कह दो कि ये कलाम तो उस अल्लाह ने नाजिल किया है जो हर भेद को पूरी तरह जानता है आसमानों में भी ज़मीन में भी बेशक वो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है